आपने सुनी है ना गीता फैल गई है जी नहीं सुनी नहीं। आपकी गीता फैलेगी यदि आपने ध्यान नहीं दिया है जी साधक जी समझ में आ रहा कुछ है अब सावधान हो जाओ और इन बातों को ज्यो का तुम प्रयोग में लाके देखो परिणाम ऐसा ही निकलेगा ये अलग बात है भाई असावधानी से अल्पज्यता से कोई बात ऐसी आई हो और वो ठीक परिणाम नहीं निकाले उसको छोड़ दो शेष बातें सारी जो कि नहीं निकलेंगी जितना काल अधिक लगाएंगे आप आलस्य प्रमाद प्रयोग कम करेंगे उतनी उतनी आपको देर में या कम सफलता मिलेगी अब बिना सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सच्चा मानव जीवन का निर्माण और उसकी कृतज्ञता के लिए हमको क्या कुछ करना पड़ता है आपने ये पढ़ा होगा कुछों ने नियम व्रत उल्लंघनात् अनर्थ किम लोकवत तद विस्मरणे भी पर इसका व्यवहार में क्या स्वरूप होगा ये जितना आप अध्ययन अध्यापन करते हैं और उपदेश के रूप में सुनते हैं इसमें विश्व की व्याख्या चार बातों में हो जाती है हेय हेय हेतु हान हान उपाय कोई बात शेष नहीं रह जाती जो ईश्वर साक्षात्कार में आवश्यक हो न बताई गई जो ईश्वर साक्षात्कार में बाधक हो और न बताई गई जो प्रापणीय हो और न बताई गई चार विभागों का वर्णन पूरा है परंतु ये जो दर्शनकार कहता है जो नियम विधान आपने पढ़े सुने हैं उसका उल्लंघन करने से व्यक्ति अनर्थ को प्राप्त करता है द्रौपदी जी बोलिए क्या सुना विश्व में जितनी भी ऊंचा बोलो जो वहाँ तक सुनाई दे विश्व में जितनी भी बातें हैं उनको चार भागों में विभक्त किया गया है हेय हेय हेतु हान हान उपाय इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो ईश्वर की प्राप्ति में साधक हो वह बताई ना गई हो तथा जो ईश्वर की प्राप्ति में ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक हो वह उसको ना बताया गया हो जो प्रापणीय हो वो न बताई गई हो जो प्रापणीय ना हो उसके विषय में ना बताया गया परंतु नियम व्रत उल्लंघना जब आपने सारी बातें जान ली कि ये संविधान है और आप उसका उल्लंघन करेंगे तो निश्चित बात है कि अनर्थ को प्राप्त करेंगे आप व्यक्ति है नियम का भंग करना उल्लंघन करना और फिर क्या कहा दर्शनकार ने तद विश्रमण ने भी उसने अनर्थ नहीं किया जान के भी नहीं किया और वो तो भूल गया जो करना था उसको भूल गया जो छोड़ना था उसको भूल गया तो फिर भी अनर्थ को प्राप्त होगा वो आप उपासना में बैठे और विधान क्या था कि उपासना काल में किसी अन्य विषय को न उठाना अन्य विषय का विचार न करना उत्तम से उत्तम कार्य संसार के कल्याण के उपकार के जो कर्तव्य उनको भी स्मरण न करना केवल ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना और आपने क्या किया जिस समय उपासना में बैठे संसार की बात आरंभ कर दी मैं पढ़ने के पश्चात विदेश में भी प्रचार करूंगा और उसके ऊपर लेखन भी करूंगा विविध भाषाओं में मैं साहित्य का प्रकाशन करूंगा अनेक गुरुकुलों का संचालन करूंगा निर्धन गरीबों को मैं बिना किसी शुल्क के पढ़ाई पढ़ाऊंगा आपने ऐसी ऐसी बातें छेड़ दी जो यहां इस नियम के विरुद्ध थी तो आपको अनर्थ का मुंह देखना ही पड़ेगा अनर्थ होगा ही पर आप देखेंगे ये कौन नहीं करता संध्या में ये तो बताओ आप क्या समझ में आया ये तो देखो करता कौन नहीं ये उल्लंघन है अच्छा अपना बताओ आप आप करते हैं यानी अपना अपना बताओ कौन करने वाले हाथ खड़ा करो तो कितना अनर्थ होगा कभी कभी व्यक्ति अब तो जानबूझ के विचार उठाए इतना इतना इतना जैसे मैंने बताया अब वो असावधान हो गया और विशेष योजना तो नहीं बनाई पर संस्कार के बल और प्रवृत्ति के बल के आधार पर वो बात उठ गई और चल पड़ी साधारण स्थिति में साधारण स्थिति में चली है वो भूल गया कि मैंने इस काल में केवल ईश्वर की उपासना ली थी ये तो भूल गया और दूसरे विषय में धीरे धीरे मंद गति से चला दिया मन वो चलता रहा भूल गया वो इसकी स्थिति भी भिन्न भिन्न है भूलने पर तत्काल समन कर लेना कुछ सेकंड में क्षणों में करना कुछ मिनटों में करना फिर पंद्रह मिनट में करना आदि आदि भिन्न भिन्न व्यक्ति के स्तर रहते हैं जितना व्यक्ति सावधान होकर उसको रोक देता है उतना वो अनर्थ से बच जाता है आप इसका परीक्षण प्रतिदिन संध्या काल में कर सकते हैं ज्यो का तो मिलेगा एक नियम आपने सुना था कि उत्तम कार्यों के करने में भी काल का समय का निर्धारण किया जाता है रणबीर जी क्या समझ में आया उत्तम कार्य को करने के लिए भी समय का निर्धारण किया जाता है कुछ समझ में आ गया या नहीं आया आगे। और उस निर्धारित समय में जो उस कार्य के संपादन का समय था यदि कोई उत्तम कार्य उससे भिन्न जो उस काल में नहीं करना चाहिए उसकी करने की इच्छा मन में और वो करना आरंभ कर दिया जाता है तो ये भी अनर्थ को प्राप्त कर देगा अर्थात इसमें भी अनर्थ होगा ही यद्यपि निष्काम कर्म परोपकार उत्तम कर्म है वो अच्छे हैं और अपने समय में उनको करना चाहिए और उपासना में यदि उत्तम कार्यों को आप करना आरंभ कर देंगे तो इससे भी अनर्थ होगा आप 20, 30, 50, 60 वर्ष भी संध्या करते रहेंगे तो भी विकास प्रगति उत्थान उत्कर्ष नहीं होगा परिणाम ये निकलेगा यदि प्रतिबंध लगाएंगे आप इस काल में परोपकार के कार्यों के विषय में नहीं सोचना नहीं विचारना नहीं योजना बनानी नहीं करनी तो धीरे धीरे आपकी स्थिति परिवर्तित होगी परिवर्तन होगा कि आप संध्या काल में प्रतिबंध लगा देंगे अपने विचारों पर जब भी असावधानी से संस्कारों के कारण प्रवृत्ति के प्रभाव से आप कभी उठाएंगे तो तत्काल रोकेंगे उन विषयों को रोक करके आप ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना में लगाएंगे इसमें सफलता मिलेगी दो आधार एक तो व्यक्ति की अपनी शक्ति बुद्धि ज्ञान बल है वो उपासना में लगेगा व्यक्ति का वो उसकी बुद्धि उसका बल उसकी शक्ति उसकी रुचि अन्य विषय में नहीं लगेगी उसे इन सब शक्तियों को बचा लेगा जीवन दूसरी बात यदि वो ईश्वर की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करता है अन्य विषयों को नहीं उठाता तो उसका संबंध ईश्वर से जुड़ जाएगा ईश्वर न्यायकारी होने से उसको ज्ञान बल आनंद सब सामर्थ्य प्रदान करेगा परिणाम ये निकलेगा इसे विपरीत वो ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान आनंद सामर्थ्य आपको उपलब्ध नहीं होगा और परिणाम आपको दंड मिलेगा आगे बढ़ेंगे और ठीक समय पर काम किए जाने वाले कार्यों के विषय में सर्वत्र व्यक्ति अभ्यास उल्टा होने से वो किसी कार्य के करने के काल में अन्य कार्य को करने का अभ्यासी हो जाएगा कार्य कुछ और करना था और उसके स्थान पर दूसरा करना आरंभ कर देता अभ्यास उसका बनेगा नियम भंग करने का जब किसी विद्यार्थी को परीक्षा देनी हो अभी समय होने वाला हो अभी परीक्षा देने के लिए सज्जा तैयारी करनी चाहिए उस काल में वो मित्र से बात करने लग जाएगा और दूसरी तीसरी बात उठा करके वो जो परीक्षा में सफलता मिलनी थी वो समय उसमें बहुत सा लग जाएगा और परीक्षा में विफलता हो जाएगी ऐसे अभ्यास आपने मोटी घटना स्थूल देखी हो आजकल अपने कार्य करते रहते हैं घर पर लोग और कार्यालय में अथवा कहीं कारखाने में कहीं खेती आदि के व्यवसाय को करने के लिए जो निर्धारित समय होता है व्यक्ति का वो क्या करता है वो निर्धारित समय पर ठीक कार्यालय में या बैंक में या और जगह विद्यालय में उस समय जा पाएगा जब ठीक समय पर चलेगा घर से नहीं तो वो क्या सोचता है और कार्य कर लेता हूं ये भी कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं वो होते होते एक घंटा में जहां जाना था उसका पंद्रह मिनट लगभग बीस मिनट उसने अपने भिन्न भिन्न कार्यों में लगाया और उस समय क्या परिणाम होता है प्राय वो चलता है चालीस मिनट पहले जबकि एक घंटा और बाएं देखता नहीं दाएं देखता नहीं बस ठीक पहुंचना है विद्यालय में नहीं तो दंड मिलेगा हस्ताक्षर करने है ये है और परिणाम दुर्घटना एक पक्ष उसने देखा कि इतने कार्य मेरे हो जाएंगे और वो विद्यालय में बैंक में भी चला जाऊंगा नहीं आया समझ में आ गया क्यों जी समझ में आया ये एक उदाहरण से आप 20 जगह इसको लागू कर सकते इसी प्रकार से विद्यार्थी या अध्यापक पढ़ाने वाला उपदेशक उपासना काल में ऐसे कार्यों को ले लेता है उठा लेता है उसकी उपासना सफल नहीं होती इसलिए नियम का उल्लंघन करने पर अनर्थ को प्राप्त करता है व्यक्ति आप विद्या पढ़ते हैं आप योग विद्या सीखते हैं क्रियात्मक योगाभ्यास आज समय है आज अवसर है आज साधन प्राप्त हैं पढ़ाने वाले आचार्य उपस्थित हैं पर आलस्य प्रमाद इधर की बात उधर की बात आपने वो जो छह घंटे इस काम में लगाना था वो आपने एक दो घंटा लगा के चार घंटे बेकार दूसरी बातों में लगा दिए और इसका अनर्थ जो है फल आपको भोगना पड़ेगा और सुनिए जितना परिश्रम इस विद्या को पढ़ के करना था आचरण में लाने के लिए आपने उस पर परिश्रम नहीं किया उसको जीवन में उतारने के लिए बहुत तप नहीं किया त्याग नहीं किया जब नहीं किया तो परिणाम ये निकलेगा सब कुछ पढ़ने पढ़ाने पर भी सब कुछ जान लेने पर भी आपके अंदर जो उल्टे संस्कार बने हैं जन्म जन्मांतर के काम क्रोध लोभ की वासनाएं विद्यमान हैं उन पर कोई चोट नहीं पहुंची उनको ढीला नहीं किया गया उनको कमजोर नहीं बनाया गया तो पढ़ने के पश्चात इधर जाएंगे उधर जाएंगे कहीं प्रचार के लिए भी जाएंगे अथवा और किसी कार्य के लिए जाएंगे तो तत्काल आप योग मार्ग को छोड़ के भोग मार्ग को अपना देंगे अनर्थ यह होगा वेद मुनि जी नींद तो नहीं आई झुक से रहे थे अब इस काल में व्यक्ति उस विद्या को शब्दार्थ संबंध को जान के और जीवन में उतारता है पूरा जोर लगाता है तो पूर्व जन्मों की इस जन्म की काम क्रोध लोभ की वासनाएं कमजोर होती चली जाती है निर्बल होती चली जाती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति परिश्रम त्याग के आधार पर विवेक वैराग्य के आधार पर ऐसी स्थिति में जा सकता है कि पूर्ण रूपेण मन पर अधिकार और अधिकार कर वासनाओं को दग्ध बीज भाव बनाने में समर्थ होता है ये नियमों के पालन करने से होता है जब आप देखेंगे दैनिक जीवन में सूक्ष्मता से देखिए एक क्षण भर काल में व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन हो जाता है अर्थात क्षण भर में ही जो वासना पहले दिखाई नहीं देती थी वो वासना उभरती है और व्यक्ति के स्वभाव को मोड़ देती है संसार की ओर परिवर्तित कर देती है व्यक्ति यदि उसको रोक्या नहीं जाए तो और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता मेरा जीवन काम मोड़ खा रहा है उसको पता नहीं चलता बाहर की क्रियाएं होती है लेना देना खाना पीना आदि क्रिया रूप तब तो वो सोच सकता है कि मेरा जीवन उल्टा हो गया है मैंने अपने जीवन में क्रिया उल्टी करनी आरंभ कर दी है मानसिक स्तर पर जो मोड परिवर्तन होता है उसको नहीं पकड़ पाता व्यक्ति अधिकार पर रखिए मन के ऊपर जैसे एक क्षति है यदि क्षण भर भी अधिकार आपने हटाया तो दुर्घटना से नहीं बचेंगे आप फिर कहीं लगाना हो तो अधिकार पूर्वक लगाइए उसको चाहे जो विचारधारा चाहे जिस समय में आए ये नहीं हो सकता आत्मनिरीक्षण करके देखना आप क्या इतनी सावधानी या ये जो दृष्टांत दिया गया आपने तो कभी देखा कभी समझा आप इसको नहीं समझे तो समझ पाएंगे उस व्यवहार में उतारेंगे उतारेंगे तो ठीक हो जाएगा नहीं उतारेंगे तो अनर्थ को प्राप्त हो ही जाएंगे नहीं बच सकते आप ऐसा जीवन है स्वाभाविक है कोई कल्पना नहीं है मानव का जीवन ही ऐसा है यदि आपको स्मरण हो ऋषियों के दर्शन दर्शनों के सूत्र उनकी सारी धाराएं आप देखेंगे उसमें मन वाणी आत्मा जो अंत करण व ये करना आदि आदि उनमें जो संविधान है उनमें सारी बातें आपके सामने आएंगी आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं सोचते हैं कोई परीक्षा देते हैं पर आप उन नियमों का पालन नहीं करते आपने ये पढ़ा होगा धृती क्षमा दम अस्त्ययम सोचम इंद्रिय निग्रह ये मान के चलिए इंद्रिय निग्रह तो पढ़ा होगा आपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना यदि आप क्षण भर भी इंद्रिय निग्रह नहीं रखते तो इंद्रियों में दोष आ जाएगा बुराई घुस जाएगी इंद्रियों के द्वारा अशुभ वासना उभरेगी वहां क्षण भर भी यदि इंद्रियों निग्रह नहीं नियंत्रण नहीं है अब पढ़ा तो आपने है ये धर्म के लक्षण सुना भी है पढ़ा भी दिया होगा पर इसका प्रयोग कैसे होता है इंद्रिय निग्रह न करने से क्या अनर्थ होता ये देखो और निग्रह रखने से नियंत्रण रखने से हम किन किन अनर्थों से बचते हैं देखेंगे अपनी अपने मन के ऊपर विचारों के ऊपर आप नियंत्रण रखिए केवल इतना कहा आंख जमती है या उससे भी छोटा काम तो आप बुराई से नहीं बच सकते और अच्छाई को नहीं कर सकते और आगे बढ़िए जब इतना नियंत्रण करेंगे आप मन के ऊपर तो परिणाम क्या निकलेगा करने पर आप मन को अधिकार में रखते हैं स्थिर बना लेते हैं चाहे जो विचार आए आने दो ये नहीं है चाहे जो सोच लो वो ऐसा नहीं है तो बुरे विचारों को व्यक्ति क्या करता है पकड़ता है जब मन बस में होता है <clears throat> बुरे विचारों को लेकर के वो स्थिर बुद्धि बनाता है कि ये जो मन में विचार उभरता है ये वासना उभरती है ये घातक है हानिकारक है इसको नहीं उभरने देना इसका परित्याग ही करना ठीक है और यदि मैं इसको ग्रहण करता हूं इस विचारधारा को तो मैं अनर्थ को प्राप्त हो जाऊंगा उल्टी वासना विपरीत वासना को उभार करते समय या इसके अनुरूप विचार बनाते समय ईश्वर को साथ जोड़ेंगे आप यदि सावधान है तो ईश्वर ज्यो का तो जानता ईश्वर ज्यो का तो देखता ईश्वर इसका फल देगा ही इसमें विकल्प भेद नहीं है कोई तो ये भी देखता फिर ईश्वर को देख करके फिर उस बुराई को रोकने का हटाने का और अधिक प्रयत्न करता वो देखता है <coughs> इस दंड से मैं बच नहीं सकूंगा यदि ईश्वर न्यायकारी सिद्ध है उसके दिमाग में तो बच जाए यदि न्यायकारी ईश्वर सिद्ध नहीं है तो यहां पर भी वो नहीं बच पाएगा आपको पता चला ईश्वर को न्यायकारी परीक्षा पूर्वक सिद्ध करने के पश्चात उसको सभी अवस्थाओं में सभी विचारधाराओं में सभी व्यवहारों में उसको वैसा ही मानना पड़ता है वैसा ही यदि वैसा ही मानना हमने स्वीकार किया ऐसा ही हम करेंगे तो निश्चित हम अशुभ बुरी विचारधाराओं से बचते चले जाएंगे यदि हमने ईश्वर को सिद्ध किया है और हम समय समय पर विचारधाराओं में ईश्वर को न्यायकारी नहीं मानते नहीं उसको दोहराते और अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं करते कि निश्चित न्यायकारी है तो फिर आप नहीं बच पाएंगे यहां पर व्यक्ति का अनुभव नहीं होता कि ये वासना दुखदाई है इसका परिणाम भयंकर क्लेश भोगना पड़ेगा ऐसी अनुभूति नहीं होती परंतु वो देखता है कि ईश्वर इसका दंड निश्चित रूपेण देवेगा मैं मानू ने मानू तो वो बच जाएगा दो धाराएं एक व्यक्ति अनुभूति करता है अर्थात उसका दिमाग बुद्धि ये मानती है कि ये दुख है ही तो वो उसमें प्रवृत्त नहीं होगा करने के लिए उद्यत नहीं होगा और ज्ञान जब उसका विपरीत होता है वो देखता है कि सिद्धांत रूप में तो ये बुरा है पर मेरी बुद्धि तो इसको अच्छा मान रही है वो तो कहता है ये तो सुखप्रद है ऐसा देखता है उसकी बुद्धि इसको सुखप्रद मानती है जबकि सिद्धांत और परमाणु से सिद्ध है कि दुखप्रद है उस समय ईश्वर का न्याय वहां पर काम करता है एक और बात ईश्वर का न्याय काम करता है एक बात दूसरी बात ऋषियों का शब्द प्रमाण काम करता है ऋषियों ने ऐसा लिखा है और वो व्यक्ति ये समझता है कि जो ऋषियों ने लिखा वो शत प्रतिशत ठीक है मेरा जो मन बना बुद्धि बनी कि ये अच्छा है ये मेरी अविद्या है ये कुसंस्कारों के कारण से है जन्म जन्मांतर की वासनाओं के कारण से है वास्तव में सत्य नहीं है जब ऐसा सोचता है तो उस बुराई को रोक देता है और जब ये मानता है कि मैं जो मानता सोचता हूं वही ठीक है वो जो मेरे दिमाग में आया वही ठीक है तो फिर न ईश्वर को देखेगा वो न ऋषियों को देखेगा वो और तो और लोक को भी नहीं देखेगा कि मैं कहा जा रहा हूं दुनिया मुझे क्या कहेगी इसको भी नहीं देखेगा नहीं देखेगा वो तो अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानता है ये सभी स्थिति सभी घटनाएं सभी बातें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है अन्य लोगों को ये विद्या सिखाई नहीं जाती अन्य लोगों को ये विद्या पढ़ाई नहीं जाती अन्य लोगों को इसका की रूपरेखा नहीं बताई जाती अन्य लोगों को बाधक भी नहीं बताए जाते अन्य लोगों को ऐसी व्यवस्था भी नहीं मिलती अन्य लोगों को पढ़ाने वाले भी नहीं मिलते और आपको ये चीजें मिलती इतना अंतर है आप और दुनिया के लोगों और उनसे जो भूले होती है उनसे जो दोष होते हैं वे और आपसे जो दोष होते हैं अंतर आपको बहुत भयंकर दंड मिलेगा क्योंकि आप जानते हैं मानते हैं पढ़ते हैं सब कुछ उनको कम दंड मिलेगा जैसा ऋषियों ने पूरा जीवन तत्व ज्ञान के लिए सत्या सत्य को जानने के लिए झोंक दिया समर्पित कर दिया आसान नहीं किसी पर ये स्वाभाविक हमारा धर्म है ईश्वर का आदेश है ऐसे आपको करना ही पड़ेगा तब तो इन सभी गहराइयों जो मैं सुना रहा हूं आप समझ जाएंगे इनका प्रयोग भी कर लेंगे यदि आपने इतना बल नहीं दिया इतना त्याग नहीं किया इतना समय नहीं लगाया इतना सत्संग नहीं किया ऋषियों की बातों पर विश्वास नहीं रखा और विवेक वैराग्य के लिए प्रयत्न नहीं किया तो आप उस स्थिति में नहीं जा सकते जो ऋषि जिसमें गए नहीं जाएंगे परंतु परिश्रम करने पर जा सकते आप ध्यान देंगे हमारा शरीर हमारी इंद्रिया हमारा मन हमारी बुद्धि ये सारा का सारा पूरा समुदाय ये जीवात्मा के पीछे चलता है जीवात्मा नेतृत्व करता है सारे और नेतृत्व करने वाला होश वास में नहीं है नेतृत्व करने वाला ज्ञान विज्ञान को नहीं देख रहा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बुरे अच्छे की काट चाट नहीं करता नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सतत सावधान नहीं रहता तो अमृत को प्राप्त हो जाएगा लंबे काल तक परिश्रम करने से लंबे काल तक पुरुषार्थ त्याग तपस्या करने से लंबे काल तक आत्मनिरीक्षण करने से लंबे काल तक अपनी शक्ति सामर्थ्य और ईश्वर से मिलने वाला सामर्थ्य आचार्यों से मिलने वाला सामर्थ्य उपार्जित करने से व्यक्ति जिन बातों को देखता है ये हो नहीं सकती वो होती दिखाई देती दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है कुछ पढ़ के कुछ योग्यता बना के कुछ लेखन की शक्ति बढ़ा के कुछ उपदेश आदि कार्य करने कराने के पश्चात वो ये मान लेता है मैंने जो करना था वो कर लिया यहां संतुष्ट हो गया है उसको ये पता नहीं कि जिस जीवन को जानना था जिस जीवन को गहराई से देखना था जिन दोषों को टटोलना था और जिनको जान करके हटाना था वो कितनी गहराई है और कहां तक वो पहुंची हुई है और कितना क्षेत्र है उसका वो नहीं जानता उसका भ्रमण उसका दौड़ धूप वो समाज और राष्ट्र और दुनिया के परिवारों में इसमें खाने में पीने में इन बातों में वो सारा शक्ति और समय लगाता रहता है यदि आंतरिक जीवन को टटोलता है तो उस दौड़ धूप को उस ओर से प्रवृत्तियों को वो उस ओर का समय उसमें लगाना पड़ता है एक दृष्टांत से समझिए आप जिससे बात स्पष्ट हो एक व्यक्ति इस विचारधारा को लेकर विचार करता है कि कुछ लोग मिलेंगे या मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे कुछ अच्छा कहेंगे मेरी कुछ प्रशंसा करेंगे और उस प्रशंसा से अच्छा कहने से उसको सुख की अनुभूति अच्छा लगता है उसको जब अच्छा कहेंगे तो उसको कुछ सुख का अनुभव होगा उस और उसने ध्यान दिया एक व्यक्ति दूसरा दूसरा व्यक्ति कहता है कि देखो अच्छा कहना बुरा कहना ये चलता रहता है वास्तव में ये जो अच्छा कहेंगे मुझे सुख की अनुभूति हो गई और मैं उसके लिए प्रयास करूं कुछ इससे तो उद्देश्य पूरा नहीं होता है ये मनुष्य का लक्ष्य लक्ष्य नहीं है लोकेशन का परित्याग करने पर लक्ष्य पूरा होता है लोक रचना का ग्रहण करने पर लक्ष्य पूरा होता ही नहीं अब वो ध्यान देता है कि मेरा लक्ष्य तो इससे पूरा नहीं होगा फिर क्या किया जाए कोई अच्छा कहे बुरा कहे ये तो वो स्वतंत्र है पर ईश्वर का आदेश ये है और इसी ने ये बतलाया मैं इन ऐषणाओं को उखाड़ के फेंकूंगा और फिर ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा तो इस पर जोर देता है वो ये प्रवृत्ति आप अपनी सबकी देख सकते हैं अब ध्यान में रहने वाला मौन कुछ रहने वाला कम बोलने वाला आत्मनिरीक्षण करने वाला वैराग्य विवेक को उभारने वाला व्यक्ति समाज की दृष्टि से ऐसा है जैसा कि कुछ भी नहीं है ऐसा है जैसे कि एक व्यक्ति रोगी व्यक्ति कहीं पड़ा हो ऐसा है कि जिसका दिमाग कुछ संतुलित नहीं रहा हो ऐसा व्यक्ति इसका कोई पड़ोसी भी नहीं जानता उसके ऊपर ये प्रभाव है अब उसको अच्छा नहीं मानता विवेक को प्राप्त करो वैराग्य को प्राप्त करो ऐषणाओं को जीतो संसार क्या कहता है क्या नहीं कहता इस बात का कुछ भी नहीं सोचना वो उसको अच्छा लगता है संसार वाला और ये उसको इतना अच्छा नहीं लगता आपने कभी योग दर्शन के भाषण में पढ़ा होगा ना व्यक्तियों की रुचि विशेष दर्शी ने आत्म भाव भावना विनिवृत्ति कुछ याद है नहीं है याद विशेष दर्शी ने उसका भाष्य में क्या लिखा जिस व्यक्ति के भाव संस्कार अच्छे होते हैं आध्यात्मिकता के होते हैं मुक्ति की ओर के होते हैं वो सुनता है उन बातों को बड़ा रुचि से सुनता है अश्रुपात होता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं पता चलता है इसके अंदर कुछ बीज है फिर निशान दिया गया वर्षा हुई एक भी अंकुर दिखाई नहीं देता था अब तीसरे दिन अंकुर अंकुर अंकुर इनके फौज सिखड़ी हो जाती है अंकुरों की तो उसने क्या अनुमान लगाया बीज पहले से विद्यमान था वर्षा होने पर सारे अंकुर दिखने लगे भूमि पर ऐसे उसके अंकुर उभर के आ जाते और दूसरे कहा कि दूसरा व्यक्ति उसमें रुचि ही नहीं रखता उसको बेकार समझता है उन आध्यात्मिक बातों को तो ये दूसरे अंश तो आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्या स्थिति है क्या इतनी रुचि है इतनी श्रद्धा है इन बातों में अथवा नहीं है तो आप कह सकते हैं हमारे संस्कार नहीं है क्या कहोगे आप हाँ जी क्या कहोगे एक ने एक कोई मिस बहाना ढूंढेगा फिर अपने आप को बचाने के लिए ये तो ढूंढ लोगे कम से कम ये हमारे संस्कार नहीं है क्या समझ माया बोलो तो नए संस्कार बनाएंगे स्वामी जी हाँ एक और बात है कभी कभी व्यक्ति ये मान लेता है मेरे संस्कार नहीं है वास्तव में उसके भी संस्कार होते हैं उसने उनको जगाया नहीं है एक अंश ऐसा होता है यदि ऐसे संस्कार नहीं होते मनुष्य जन्म क्यों मिलता उसको धर्माधर्म कम से कम आधे आधे तो है ही तो पहले अच्छे काम किए आधे अच्छे किए आधे बुरे किए तो मनुष्य जन्म मिल गया अब मनुष्य जन्म वाले संस्कार जो धर्म किए थे वो तो है पर वो जगाया आज तक जगाया ही नहीं उसने एक बात जगाने की ऐसे समाज में ऐसी विद्या के पढ़ने से ईश्वर उपासना करने से आत्मनिरीक्षण से वो पूर्व जन्म के दबे हुए संस्कार जग जाते हैं न परिश्रम करने से सत्संग न करने से ऐसे ग्रंथ न पढ़ने से ईश्वर उपासना न करने से वो पहले वाले संस्कार जो के तो दबे पड़े रहते हैं उनसे कोई व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता वो संस्कार वहीं रहते और यदि कुसंग करता है बुरी पुस्तक पढ़ता है उल्टे तो वो जो अच्छे थे वो और मर जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे आगे काम ही नहीं कर पाएंगे वो इतना एक कार्य है नए संस्कार बनाना ये संस्कार कैसे बनते हैं व्यक्ति के दिमाग में बात रहनी चाहिए एक दृष्टान्त लो हमारे मन में एक संस्कार बन गया कि ये शरीर मेरा है ये इंद्रिया मेरी है ये विद्या मेरी है ये धन संपत्ति मेरा है ये वस्तुएं मेरी है उसको मैं और मेरे का संस्कार बन गया जो कि हानिकारक है ये सभी वस्तुएं ईश्वर की ईश्वर इनका स्वामी है ईश्वर इनका बनाने वाला है ईश्वर इनका रक्षक है ईश्वर हमको देने वाला है हम उनका उपयोग करते हैं एक ये संस्कार है जब ये संस्कार बन गया मेरा मैं और मेरे वाला इसको हमने उखाड़ना है इसको हटाना है तो इसके विपरीत पाठ करिए आप बार बार सदा पाठ करते रहिए कराते रहिए ये संस्कार कमजोर होता चला जाएगा मैं और मेरे वाला और ईश्वर और ईश्वर का है सब कुछ ये प्रबल होता चला जाएगा कालांतर में वो संस्कार प्रबल होगा और ये निर्बल होगा और इस संस्कार का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा और यदि सूक्ष्म रूप में पड़ेगा तो उसको हम रोकने में समर्थ होंगे कालांतर में यह संस्कार नितांत उखाड़ा जा सकता है नितांत हटाया जा सकता है इसलिए प्रत्येक संस्कार के संबंध में ऐसा जानना चाहिए देखो एक घटना रखता हूं दृष्टांत वो थोड़ा सा कठिन तो प्रतीत हो सकता है किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि इसने चोरी की है और चोरी उसने नहीं की कई लोगों को सुना दिया उन लोगों ने चर्चा की कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है इतनी चोरी की है इतने रुपए चुराए हैं फिर योगाभ्यासी साधक को पता लगा कि मेरे विषय में ये आरोप है कि इसने इतने रुपए की चोरी की है इतने रुपए चुराए हैं चर्चा होगी लोगों में और साधक अभ्यासी व्यक्ति जब सुनता है तो कहता है मेरे ऊपर आरोप लग गया है ये मेरे दोष गिनाए जा रहे हैं ये मेरे ऊपर इतने आरोप लगाए और वो इस बात को नहीं देखता मैं और मेरे को जो मैंने हटाया था वो आगे फिर जोड़ दिया मैंने साधक जी आज समझ में नहीं आया <laughs> ये दिखता है अच्छा उसको पर उसको ये पता नहीं चल रहा मैंने जिस मैं और मेरे को हटाना था ये हटा दिया था वो दो बार जोड़ रहा हूं भाई दोष लगाने वाला लगा सकता है वो झूठे भी हो सकते हैं कोई सच्चे हो पर ये जो मैं और मेरा जुड़ करके उफान आया है मुझ में कि मेरे ऊपर ये दोष मेरे ये दोष मेरे में तो सिद्ध कर दिए वो फेर उफान ले लिया उसने वही जीवानी फेर खड़ी कर दी उन संस्कारों की वो धराशा ही हो गए या नहीं होता आशा हम्म? होता है है किसी ने कहा ये प्रेमचारी झगड़ता रहता है इसके साथ झगड़ा उसके साथ झगड़ा एक मास पहले झगड़ा था कल भी झगड़ा और वो झगड़ा नहीं एक दिन भी उसने सुन लिया <laughs> कि ये ब्रह्मचारी झगड़ा करता है लड़ाई करता है कईये ने कहा कि हाँ ये झगड़ा करता है फिर कहा कि उसने देखा देखो मेरे ऊपर आरोप आ रहे मेरा ऊपर झगड़ा लगा दिया है मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा मारा जाऊंगा सारे मुझे बुरी दृष्टि देखेंगे सारे मुझे बहुत बुरा वो उफान आ गया उसमें वो मैं और मेरा जितना सीखा था वो सारा हो दराशाही हो गया वो मैं और मेरा फिर जुड़ गया उसको ये पता नहीं मैंने क्या किया था क्या करना था क्या कर बैठा ये उसको पता ही नहीं चलता और सावधान व्यक्ति क्या करता है देखो ये आरोप लग गए हैं ये लगाने वाला कहने वाला स्वतंत्र है झूठे भी हो सकते हैं और यदि वास्तव में पहले वो देखता है वास्तव में सत्यता है क्या इनमें कुछ प्रमाणों से देखा कोई सत्यता नहीं है फिर कहने लगे मेरे नाम से ये दोष आए हैं मैंने ये दोष किए हैं ऐसा तो वो कहेगा देखो भाई समझाने की दृष्टि जहां तक है वो समझाएगा मैंने ऐसा दोष कोई नहीं किया है वास्तव में यदि है तो मुझे समझाओ